शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है कुछ शक नहीं कि इंसान कम हौसला पैदा हुआ है जब उसे तकलीफ पहुंचती है तो घबरा उठता है और जब मिलता है उसको माल तो बखील बन जाता है मगर नमाज अदा करने वाले जो नमाज का इल्तिजाम रखते और हमेशा पढ़ते हैं और जिनके माल में हिस्सा मुकर्र है यानी मांगने वाले का और न मांगने वाले का और जो रोजे जजा को सच समझते हैं और जो अपने परवरदिगार के अजाब से खौफ रखते हैं बेशक उनके परवरदिगार का अजाब है ही ऐसा कि उससे बेखौफ न हुआ जाए और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं मगर अपनी बीवियों या बांदियों से कि उनके पास जाने में उन्हें कुछ मलामत नहीं और जो लोग उनके सिवा और और तरीके ढूंढें तो वो हद से निकल जाने वाले हैं और जो अपनी अमानतों और अपने अहद पैमान का पास करते हैं और जो अपनी गवाहियों पर कायम रहते हैं और जो अपनी नमाज की पाबंदी करते हैं यही लोग जन्नतों में इज्जत इकराम से होंगे तो ए नबी इन काफिरों को क्या हुआ है कि तुम्हारी तरफ दौड़े चले आते हैं दाएं और बाएं से गिरोह गिरोह होकर जमा होते जाते हैं क्या इनमें से हर शख्स ये उम्मीद रखता है कि नेमत के बाग में दाखिल किया जाएगा हरगिज नहीं हमने इनको उस चीज से पैदा किया है जिसे ये जानते हैं बस मशरकों और मगरबों के मालिक की कसम कि हम ताकत रखते हैं यानी इस बात पर कि इनसे बेहतर लोग बदल लाएं और हम आजिज नहीं हैं तो अय पैगंबर इनको बातिल में पड़े रहने और खेल लेने दो यहां तक कि जिस दिन का इनसे वादा किया जाता है वो इनके सामने आ मौजूद हो उस दिन ये कब्रों से निकलकर इस तरह दौड़ेंगे जैसे किसी मुकाबले के निशान की तरफ दौड़े जा रही हूं इनकी आंखें झुक रही होंगी और जिल्लत इन पर छा रही होगी यही वो दिन है जिसका इनसे वादा किया जाता था शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा कि पेशतर इसके कि उन पर दर्द देने वाला अजाब वाक़ हो अपनी कौम को खबरदार कर दो उन्होंने कहा कि भाइयों मैं तुमको खुले तौर पर खबरदार करता हूं कि अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो और मेरा कहा मानो वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और मौत के वक्त मुकर्र तक तुमको मोहलत अता करेगा जब अल्लाह का मुकर्र किया हुआ वक्त आ जाता है तो ताखीर नहीं की जाती काश तुम जानते होते जब लोगों ने न माना तो नूह ने अल्लाह से अर्ज की कि परवरदिगार मैं अपनी कौम को रात दिन बुलाता रहा लेकिन मेरे बुलाने से वो और ज्यादा गुरेज करते रहे जब जब मैंने उनको बुलाया कि तौबा करें और तू उनको मुआफ फरमाए तो उन्होंने अपने कानों में उंगलियां दे ली और अपने ऊपर कपड़े ओढ़ लिए और अड़ गए और खूब तकबर करने लगे फिर मैं उनको बुलंद आवाज से भी बुलाता रहा फिर अलानिया भी और राजदारी से भी समझाता रहा फिर मैंने कहा कि अपने परवरदिगार से मुआफी मांगो कि वो बड़ा मुआफ करने वाला है वो तुम पर आसमान से मूसलाधार में बरसाएगा और तुम्हारे माल और बेटों में इजाफा करेगा और तुम्हें बाग अता करेगा और उनमें तुम्हारे लिए नहरें बहा देगा तुमको क्या हुआ है कि तुम अल्लाह की अजमत का एतकाद नहीं रखते हालांकि उसने तुमको तरह तरह की हालतों में पैदा किया है क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने सात आसमान कैसे ऊपर तले बनाए हैं और चांद को उनमें रोशन बनाया है और सूरज को चराग बना दिया है और अल्लाह ही ने तुमको जमीन से एक खास तरह से पैदा किया है फिर उसी में तुम्हें वो लौटा देगा और उसी से तुमको निकाल खड़ा करेगा और अल्लाह ही ने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बनाया ताकि उसके बड़े बड़े कुशादा रस्तों में चलो फिरो आखिर में नूह ने अर्ज की कि मेरे परवरदिगार ये लोग मेरे कहने पर नहीं चले और ऐसों के ताबे हुए हैं जिनको इनके माल और औलाद ने नुकसान के सिवा कुछ फायदा न दिया और वो बड़ी बड़ी चालें चले और कहने लगे कि अपने माबूदों को हरगिज न छोड़ना और वद और सुआ और यगूस और यऊक और नसर को कभी न छोड़ना और ए परवरदिगार इन्होंने बहुत लोगों को गुमराह कर दिया है और तू इन जालिमों को और ज्यादा गुमराह कर दे आखिर वो अपने गुनाहों के सबब पहले गरकाब कर दिए गए फिर आग में डाल दिए गए तो उन्होंने अल्लाह के सिवा किसी को अपना मददगार न पाया और फिर नू ने यह दुआ की कि मेरे परवरदिगार इन काफिरों में से किसी को जमीन पर बसता न रहने दे अगर तू इनको रहने देगा तो ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और इनसे जो औलाद होगी वो भी बदकार और नाशुक्री होगी ऐ मेरे परवरदिगार मुझको और मेरे माँ बाप को और जो ईमान लाकर मेरे घर में आए उसको और तमाम ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को मुआफ फरमा और जालिम लोगों के लिए और ज्यादा तबाही बढ़ा शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से कह दो कि मेरे पास वही आई है कि जिन्नों की एक जमात ने इस किताब को सुना तो कहने लगे कि हमने एक अजीब कुरान सुना जो भलाई का रास्ता बताता है सो हम उस पर ईमान ले आए और हम अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक नहीं बनाएंगे और ये कि हमारे परवरदिगार की शान बहुत बुलंद है वो न बीवी रखता है न औलाद और ये कि हम में से कोई कोई बेवकूफ अल्लाह के बारे में झूठ घड़ता है और हमारा यह ख्याल था कि इंसान और जिन अल्लाह की नस्बत झूठ नहीं बोलेंगे और ये कि बाज बनी आदम बाज जिन्नात की पनाह लिया करते थे तो इससे उनकी सरकशी और बढ़ गई थी और ये कि उनका भी यही एतकाद था जिस तरह तुम्हारा था कि अल्लाह किसी को नहीं जिंदा करेगा और ये कि हमने आसमान को टटोला तो उसको मजबूत चौकीदारों और अंगारों से भरा हुआ पाया और ये कि पहले हम वहां बहुत से मकामात पर फरिश्तों की बातें सुनने के लिए बैठा करते थे अब कोई सुनना चाहे तो अपने लिए अंगारा तैयार पाता है और ये कि हमें मालूम नहीं कि इससे अहले जमीन के साथ बुराई मकसूद है या इनके परवरदिगार ने इनकी भलाई का इरादा फरमाया है और ये कि हम में बाज नेक हैं और बाज दूसरी तरह के हमारे कई तरह के मजहब हैं और ये कि हमने समझ लिया है कि हम जमीन में खा कहीं हों अल्लाह को हरा नहीं सकते और न भाग कर उसको थका सकते हैं और जब हमने हिदायत की किताब सुनी उस पर ईमान ले आए सो जो शख्स अपने परवरदिगार पर ईमान लाता है तो उसको न नुकसान का खौफ है न किसी तरह के जुल्म का और ये कि हम में बाज फर्मा बरदार हैं और बाज नाफरमान हैं तो जो फर्मा बरदार हुए वो सीधे रस्ते पर चले और जो नाफरमान हुए वो दोजख का ईंधन बने और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी इनसे कह दो कि अगर ये लोग सीधे रस्ते पर रहते तो हम इनके पीने को बहुत सा पानी देते ताकि इससे इनकी आजमाइश करें और जो शख्स अपने परवरदिगार की याद से मुंह फेरेगा वो उसको सख्त अजाब में दाखिल करेगा और ये कि मस्जिदें खास अल्लाह की हैं तो अल्लाह के साथ किसी और की इबादत न करो और जब अल्लाह के बंदे यानी ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इबादत को खड़े हुए तो काफिर उनके गिर्द हुजूम कर लेने को थे ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि मैं तो अपने परवरदिगार ही की इबादत करता हूं और किसी को उसका शरीक नहीं बनाता यह भी कह दो कि मैं तुम्हारे लिए न किसी नुकसान का और न नफे का कुछ इख्तियार रखता हूं यह भी कह दो कि अल्लाह के अजाब से मुझे कोई पनाह नहीं दे सकता और मैं उसके सिवा कोई जाए पनाह नहीं पाऊंगा हां अल्लाह की तरफ से अहकाम का और उसके पैगामों का पहुंचा देना ही मेरे जिम्मे है और जो शख्स अल्लाह और उसके पैगंबर की नाफरमानी करेगा तो ऐसों के लिए जहन्नम की आग है वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे यहां तक कि जब ये लोग वो दिन देख लेंगे जिसका इनसे वादा किया जाता है तब इनको मालूम हो जाएगा कि मददगार किसके कमजोर हैं और शुमार किन का थोड़ा है कह दो कि जिस दिन का तुमसे वादा किया जाता है मैं नहीं जानता कि वो अनकरीब आने वाला है या मेरे परवरदिगार ने उसकी मुद्दत दराज कर दी है वही गैब का जानने वाला है सो किसी पर अपने गैब को जाहिर नहीं करता हाँ जिस पैगंबर को पसंद फरमाए और उसको गैब की बातें बता दे तो उसके आगे और पीछे निगहबान मुकर्र कर देता है ताकि मालूम फरमाए कि उन्होंने अपने परवरदिगार के पैगाम पहुंचा दिए हैं और यूं तो उसने उनकी सब चीजों का हर तरफ से अहाता कर रखा है और एक एक चीज गिन रखी है शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है ए कमली में लिपटने वाले रात को क्याम किया करो मगर थोड़ी सी रात यानी निस्फ रात या उससे कुछ कम क्याम करो या कुछ ज्यादा और कुरान को अच्छी तरह ठहर ठहर कर पढ़ा करो हमन करीब तुम पर एक भारी फरमान नाजिल करेंगे कुछ शक नहीं कि रात का उठना नफ्स को सख्त पामाल करता है और उस वक्त जिक्र भी खूब दुरुस्त होता है दिन के वक्त तो तुम्हें और बहुत से शगल होते हैं तो अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र करो और हर तरफ से बेताल्लुक होकर उसी की तरफ मुतवजे हो जाओ वही मशरक और मगरब का मालिक है उसके सिवा कोई मबूद नहीं तो उसी को अपना कारसाज बनाओ और जो जो दिल आजार बातें ये लोग कहते हैं उनको सहते रहो और खूबसूरती से उनसे कनारा कश रहो और मुझे उन झुटलाने वालों से जो दौलतमंद हैं समझ लेने दो और उनको थोड़ी सी मोहरत दे दो कुछ शक नहीं कि हमारे पास बेड़ियां हैं और बड़ी जबरदस्त आग है और गले में अटकने वाला खाना है और दर्द देने वाला अजाब है जिस दिन जमीन और पहाड़ कांपने लगे और पहाड़ ऐसे भुरे हो जाएंगे जैसे रेत के टीले ए अहले मक्का जिस तरह हमने फिरौन के पास मूसा को पैगंबर बनाकर भेजा था उसी तरह तुम्हारे पास भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल भेजे हैं जो तुम्हारे मुकाबले में गवाह होंगे सो फिर ने हमारे पैगंबर का कहा न माना तो हमने उसको बड़े दर्दनाक अंदाज से पकड़ लिया अगर तुम भी इन पैगंबर को न मानोगे तो उस दिन से किस तरह बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा जिससे आसमान फट जाएगा ये उसका वादा पूरा होकर रहेगा ये कुरान तो नसीहत है सो जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने का रास्ता इख्तियार कर ले तुम्हारा परवरदिगार खूब जानता है कि तुम और तुम्हारे साथ के लोग कभी दो तिहाई रात के करीब और कभी आधी रात और कभी तिहाई रात क्याम किया करते हो और अल्लाह रात और दिन का अंदाजा रखता है उसने मालूम किया कि तुम उसको निभा न सकोगे तो उसने तुम पर मेहरबानी की बस जितना आसानी से हो सके उतना कुरान पढ़ लिया करो उसने जाना कि तुम में बाज बीमार भी होंगे और बाज अल्लाह के फजल यानी माश की तलाश में मुल्क में सफर करेंगे और बाज अल्लाह की राह में लड़ेंगे तो जितना आसानी से हो सके उतना कुरान पढ़ लिया करो और नमाज कायम करते रहो और जकत अदा करते रहो और अल्लाह को नेक नियति से कर्ज देते रहो और जो अमल नेक तुम अपने लिए आगे भेजोगे उसको अल्लाह के यहां बेहतर और सिले में बहुत अजीम पाओगे और अल्लाह से बख्शिश मांगते रहो बेशक अल्लाह बख्शने वाला है मेहरबान है शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है ऐ चादर में लिपटने वाले उठो अब खबरदार करने लगो और अपने परवरदिगार की बड़ाई बयान करो और अपने कपड़े पाक रखो और शिरक की गंदगी से तो अलग ही रहो और इस नीयत से एहसान न करो कि उससे ज्यादा के ख्वाहा हो और अपने परवरदिगार की खातिर सब्र करते रहो फिर जब सूर फूका जाएगा तो वो दिन मुश्किल का दिन होगा यानी काफिरों पर आसान न होगा मुझे उस शख्स से समझ लेने दो जिसको मैंने अकेला पैदा किया और मैंने उसको बहुत सा माल दिया और हर वक्त हाजिर रहने वाले बेटे दिए और उसको हर तरह के सामान में वसत दी फिर भी लालच रखता है कि मैं उसे और ज्यादा दूं ऐसा हरगिज नहीं होगा ये हमारी आयतों का बड़ा मुखालिफ रहा है मैं इसे एक बड़ी चढ़ाई चढ़ाऊंगा इसने गौर फिक्र किया और एक बात ठहरा ली ये मारा जाए इसने कैसी तजवीज की फिर ये मारा जाए इसने ये कैसी तजवीज की फिर इसने निगाह की फिर त्योरी चढ़ाई और मुंह बिगाड़ा फिर पीट फेर कर चला और तकबर किया फिर कहने लगा ये तो जादू है जो पहले लोगों से बराबर होता आया है फिर बोला ये अल्लाह का कलाम नहीं बल्कि बशर का कलाम है मैं अन करीब इसको सकर में दाखिल करूंगा और तुम क्या समझे कि सकर क्या है वो ऐसी आग है कि न बाकी रखेगी और न छोड़ेगी और बदन को झुलस कर सियाह कर देगी उस पर उन्नीस दारोगा हैं और हमने दोजक के दारोगा फरिश्ते ही बनाए हैं और उनका शुमार काफिरों की आजमाइश के लिए मुकर्र किया है इसलिए कहले किताब यकीन करें और मोमिनों का ईमान और ज्यादा हो और अहले किताब और मोमिन शक न लाएं और इसलिए कि जिन लोगों के दिलों में निफाक का रोग है और जो काफिर हैं कहें कि इस मिसाल के बयान करने से अल्लाह का मकसूद क्या है इसी तरह अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह रहने देता है और जिसको चाहता है हिदायत देता है और तुम्हारे परवरदिगार के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता और ये कुरान तो बनी आदम के लिए नसीहत है हाँ हाँ कसम है चांद की और रात की जब रुखसत होने लगे और सुबह की जब रोशन हो जाए कि वो आग एक बहुत बड़ी आफत है इंसान के लिए डर की चीज यानी उस शख्स के लिए जो तुम में से आगे बढ़ना चाहे या पीछे रहना चाहे हर शख्स अपने करतूतों के बायस गिरफ्तार होगा मगर दाहनी तरफ वाले नेक लोग जन्नतों में होंगे और पूछते होंगे यानी आग में जलने वाले गुनाहगारों से कि तुम दोजख में क्यों पड़े वो जवाब देंगे कि हम नमाजियों में शामिल न हुए और न हम फकीरों को खाना खिलाते थे और हम बहस करने वालों के साथ मिलकर बहस करते थे और रोजे जजा को झुटलाते थे यहां तक कि हमें मौत आ गई तो सिफारिश करने वालों की सिफारिश इनके हक में कुछ फायदा न देगी इनको क्या हुआ है कि नसीहत से गर्दा हो रहे हैं गोया गधे हैं कि बिदक जाते हैं जो शेर से डर कर भाग जाते हैं असल यह है कि इनमें से हर शख्स ये चाहता है कि उसके पास खुली हुई किताब आए ऐसा हरगिज नहीं होगा हकीकत यह है कि इनको आखिरत का खौफ ही नहीं कुछ शक नहीं कि यह कुरान नसीहत है तो जो चाहे इसे याद रखे और याद भी तभी रखेंगे जब अल्लाह चाहे वही इस लायक है कि उससे डरा जाए और वही मुआफ करने वाला है शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है मैं रोजे क्यामत की कसम खाता हूं और नफ से लवामा की कसम खाता हूं कि सब लोग उठाकर खड़े किए जाएंगे क्या इंसान यह ख्याल करता है कि हम उसकी बिखरी हुई हड्डियां इकट्ठी नहीं करेंगे जरूर करेंगे और हम इस बात पर कादिर हैं कि उसकी पोर पोर दुरुस्त कर दें मगर इंसान चाहता है कि आइंदा भी खुद सरी करता चला जाए पूछता है कि कयामत का दिन कब होगा सो जब आंखें चुंधिया जाएं और चांद गहना जाए और सूरज और चांद जमा कर दिए जाएं उस दिन इंसान कहेगा कि कहां है भागने की जगह कहीं नहीं कोई जाए पना नहीं उस रोज तुम्हारे परवरदिगार ही के पास तुम्हें जा ठहरना है उस दिन इंसान को जो अमल उसने आगे भेजे और जो पीछे छोड़े होंगे सब बता दिए जाएंगे बल्कि इंसान आप अपना गवाह है अगरचे उजरो माजरत करता रहे और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के पढ़ने के लिए अपनी जबान को तेज तेज हरकत ना दिया करो कि इसको जल्द सीख लो इसका जमा करना और पढ़ाना हमारे जिम्मे है सो जब हम इसे पढ़ा करें तो तुम उसको सुना करो और फिर उसी तरह पढ़ा करो फिर उसके मानी का बयान भी हमारे जिम्मे है मगर लोगो तुम दुनिया को दोस्त रखते हो और आखिरत को छोड़े देते हो उस रोज बास चेहरे रौनकदार होंगे अपने परवरदिगार की तरफ नजर किए हुए होंगे और बहुत से चेहरे उस दिन उदास होंगे ख्याल करेंगे कि उनके साथ कमर तोड़ मामला किया जाएगा हाँ जब जान गले तक पहुंच जाए और लोग कहने लगे इस वक्त कौन झाड़ फूंक करने वाला है और उस जा बलब ने समझा कि अब जुदाई का वक्त है और पिंडली से पिंडली लिपट जाए उस दिन तुझको अपने परवरदिगार की तरफ खींचे चले चलना है फिर ऐसे मगरूर ने न तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा जाना और न नमाज पढ़ी लेकिन झुटलाया और मुंह फेर लिया फिर अपने घर वालों के पास अकड़ता हुआ चल दिया खराबी है तेरी खराबी पर खराबी है फिर खराबी है तेरी खराबी पर खराबी है क्या इंसान ये ख्याल करता है कि उसे यूं ही छोड़ दिया जाएगा क्या वो मनी का जो टपकाई जाती है कतरा न था फिर लोथड़ा हुआ फिर अल्लाह ने उसको बनाया सो उसके आजा को दुरुस्त किया फिर उसकी दो किस्में बनाई मर्द और औरत क्या उसको इस बात पर कुदरत नहीं कि मुर्दों को जिंदा कर दे शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है बेशक इंसान पर जमाने में एक ऐसा वक्त भी आ चुका है कि वो कोई काबिल जिक्र चीज न था हमने इंसान को मिले जुले नुतफे से पैदा किया ताकि उसे आजमाएं तो हमने उसको सुनता देखता बनाया यकीनन हम ही ने उसे रास्ता भी दिखा दिया अब खा शुक्रगुजार हो खा ना शुक्रा बेशक हमने काफिरों के लिए जंजीरें और तोक और दहकती आग तैयार कर रखी है जो नेकुकार हैं वो ऐसी शराब पियेंगे जिसमें काफूर की आमेजिश होगी ये एक चश्मा है जिसमें से अल्लाह के बंदे पियेंगे और उसमें से छोटी छोटी नहरें निकाल लेंगे ये लोग नजरें पूरी करते हैं और उस दिन से जिसकी सख्ती फैल रही होगी खौफ रखते हैं और बावजूद के उनको खुद खाने की चाहत होती है मगर फकीरों और यतीमों और कैदियों को खिलाते हैं और कहते हैं कि हम तुमको महज अल्लाह की खुशनुदी के लिए खिलाते हैं न तुमसे बदला चाहते हैं और न शुक्रगुजारी हमको अपने परवरदिगार से उस दिन का डर लगता है जो चेहरों को बिगाड़ने वाला और बड़ी सख्ती वाला होगा चुनाचे अल्लाह उनको उस दिन की सख्ती से बचा लेगा और ताजगी और खुशी इनायत फरमाएगा और उनके सब्र के बदले उनको बहिश्त और रेशमी लिबास अता करेगा उसमें वो तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे वहां न धूप की हिद्दत देखेंगे न सर्दी की शिद्दत उन पर दरख्तों के साय करीब होंगे और मेवों के गुच्छे झुके हुए लटक रहे होंगे और खुदाम चांदी के बर्तन लिए हुए उनके इर्द गिर्द फिरेंगे और शीशे के निहायत शफाफ प्याले और शीशे भी चांदी के जो ठीक अंदाजे के मुताबिक बनाए गए हैं और वहां उनको ऐसी शराब भी पिलाई जाएगी जिसमें अदरक की आमेजिश होगी ये बहिश्त में एक चश्मा है जिसका नाम सलसबील है और उनके पास लड़के आते जाते होंगे जो हमेशा एक ही हालत पर रहेंगे जब तुम उन पर निगाह डालो तो ख्याल करो कि बिखरे हुए मोती हैं और बहिश्त में जहां आंख उठाओगे कसरत से नेमत और अजीम शान सल्तनत देखोगे उनके जिस्मों पर दीवा और अतलस के सब्स कपड़े होंगे और उन्हें चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे और उनका परवरदिगार उनको निहायत पाकिजा मशरूब पिलाएगा फरमाएगा ये तुम्हारा सिला है और तुम्हारी मेहनत हमारे यहां मकबूल हुई ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुम पर कुरान बतदरीज नाजिल किया है तो अपने परवरदिगार के फैसले के लिए इंतजार किए रहो और उन लोगों में से किसी बदअमल और नाशुक्रे का कहा न मानना और सुबह शाम अपने परवरदिगार का नाम लेते रहो और रात को बड़ी देर तक उसके आगे सजदे करो और उसकी पाकी बयान करते रहो ये लोग दुनिया को दोस्त रखते हैं और कयामत के भारी दिन को पसे पुष्ट छोड़े देते हैं हमने इनको पैदा किया और इनके जोड़ जोड़ को मजबूत बनाया और अगर हम चाहें तो इनके बदले इन्हीं की तरह और लोग ले आए ये कुरान तो नसीहत है जो चाहे अपने परवरदिगार की तरफ पहुंचने का रास्ता इख्तियार कर ले और तुम कुछ भी नहीं चाह सकते मगर जो अल्लाह को मंजूर हो बेशक अल्लाह जानने वाला है हिकमत वाला है वो जिसको चाहता है अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है और जालिमों के लिए उसने दुख देने वाला अजाब तैयार कर रखा है शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है हवाओं की कसम जो नर्म नर्म चलती हैं फिर जोर पकड़कर झक्कड़ हो जाती हैं और बादलों को उभार कर उठा लाती हैं फिर उनको फाड़ कर जुदा जुदा कर देती हैं फिर फरिश्तों की कसम जो वही लाते हैं ताकि उज्र दूर कर दिया जाए या डर सुना दिया जाए कि जिस फैसले का तुमसे वादा किया जाता है वो होकर रहेगा जब तारों की चमक जाती रहे और जब आसमान में शिगाफ पड़ जाए और जब पहाड़ रेजा रेजा करके उड़ा दिए जाएं और जब पैगंबरों के लिए वक्त मुकर्र कर दिया जाए भला इन कामों में ताखिर किस लिए की गई फैसले के दिन के लिए और तुम्हें क्या खबर के फैसले का दिन क्या है उस दिन झुटलाने वालों के लिए खराबी होगी क्या हमने पहले लोगों को हलाक नहीं कर डाला था फिर हम इन पिछलों को भी उनके पीछे भेज देते हैं हम गुनाहगारों के साथ ऐसा ही किया करते हैं उस दिन झुटलाने वालों की खराबी होगी क्या हमने तुमको हकीर पानी से नहीं पैदा किया फिर उसको एक महफूज जगह में रखा एक वक्त मुन तक फिर हमने अंदाजा मुकर्र किया सो हम क्या ही खूब अंदाजा मुकर्र करने वाले हैं उस दिन झुटलाने वालों की खराबी होगी क्या हमने जमीन को समेटने वाली नहीं बनाया यानी जिंदों और मुर्दों को और हमने उस पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ रख दिए और तुम लोगों को मीठा पानी पिलाया उस दिन झुटलाने वालों की खराबी होगी जिस चीज को तुम झुटलाया करते थे अब उसकी तरफ चलो यानी उस साय की तरफ चलो जिसकी तीन शाखे हैं न ठंडी छाओ और न शोलों से बचाओ उससे आग की इतनी इतनी बड़ी चिंगारियां उड़ती हैं जैसे महल गोया जर्द रंग के ऊंट हैं उस दिन झुटलाने वालों की खराबी होगी ये वो दिन है कि लोग लब तक न हिला सकेंगे और न उनको इजाजत दी जाएगी कि उज्र कर सकें उस दिन झुटलाने वालों की खराबी होगी यही फैसले का दिन है जिसमें हमने तुमको और पहले लोगों को जमा किया है अगर तुमको कोई दांव आता है तो मुझसे कर चलो उस दिन झुटलाने वालों की खराबी होगी बेशक परहेजगार सायों और चश्मों में होंगे और मेवों में जो उनको मरगूब हों जो अमल तुम करते रहे थे उनके बदले में मजे से खाओ और पियो हम नेकुकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं उस दिन झुटलाने वालों की खराबी होगी ए झुटलाने वालों दुनिया में तुम किसी कदर खा लो और फायदे उठा लो तुम बेशक गुनाहगार हो उस दिन झुटलाने वालों की खराबी होगी और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह के आगे झुको तो झुकते नहीं उस दिन झुटलाने वालों की खराबी होगी अब इसके बाद ये कौन सी बात पर ईमान लाएंगे शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है ये लोग किस चीज की नस्बत एक दूसरे से पूछते हैं क्या उस बड़ी खबर की नस्बत जिसमें ये इख्तिलाफ कर रहे हैं देखो ये अनकरीब जान लेंगे फिर देखो ये अनकरीब जान लेंगे क्या हमने जमीन को बिछोना नहीं बनाया और पहाड़ों को उसकी मेखे नहीं ठहराया और हमने तुमको जोड़ा जोड़ा पैदा किया और नींद को तुम्हारे लिए मुजिब आराम बनाया और रात को पर्दा मुकर्र किया और दिन को माश का वक्त करार दिया और तुम्हारे ऊपर सात मजबूत आसमान बनाए और आफताब का रोशन चराग बनाया और नुचड़ते बादलों से मूसलाधार में बरसाया ताकि हम उससे अनाज और नबातात पैदा करें और घने घने बाग बेशक फैसले का दिन मुकर्र है जिस दिन सूर फूका जाएगा तो तुम लोग फौज दर फौज आ मौजूद होगे और आसमान खोला जाएगा तो उसमें दरवाजे हो जाएंगे और पहाड़ चलाए जाएंगे तो वो रेत होकर रह जाएंगे बेशक दोजख घात में है यानी सरकशों के लिए कि उनका वही ठिकाना है इसमें वो सदियों पड़े रहेंगे वहां न ठंडक का मजा चखेंगे न कुछ पीना नसीब होगा मगर खोलता पानी और बदबूदार पीप ये बदला है उनके अमाल के मुआफिक ये लोग हिसाब आखिरत की उम्मीद ही नहीं रखते थे और हमारी आयतों को मुसलसल झुटलाते रहते थे और हमने हर चीज को लिख कर महफूज कर रखा है सो अब मजा चखो हम तुम पर अजाब ही बढ़ाते जाएंगे बेशक परहेजगारों के लिए कामयाबी का घर है यानी बाग और अंगूर और हम उम्र भरपूर जवान औरतें और शराब के छलकते हुए जाम वहां वो न बेहुदा बात सुनेंगे न झुटलाने की बातें ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसल्लम ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से सिला होगा जो हिसाब के मुताबिक इनाम होगा वो परवरदिगार के जो कुछ आसमानों और जमीन में और जो इन दोनों के दरमियान है सबका मालिक है बड़ा मेहरबान है किसी को उससे बात करने का यारा ना होगा जिस दिन जिबरील अमीन और दूसरे फरिश्ते सफ बांध कर खड़े होंगे तो कोई बोल न सकेगा मगर जिसको रहमान इजाजत बख्शे और वो बात भी दुरुस्त ही कहे ये दिन बरहक है बस जो शख्स चाहे अपने परवरदिगार के पास ठिकाना बना ले हमने तुमको आजाब से जो करीब आने वाला है आगाह कर दिया है जिस दिन हर शख्स उन अमाल को जो उसने आगे भेजे होंगे देख लेगा और काफिर कहेगा कि अ काश मैं मिट्टी होता शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है उन फरिश्तों की कसम जो डूब कर काफिरों की जान खींच लेते हैं और उनकी जो मोमिनों की जान आसानी से निकालते हैं और उनकी जो तैरते हुए जाते हैं फिर लपक कर आगे बढ़ते हैं फिर दुनिया के कामों का इंतजाम करते हैं कि वो दिन आकर रहेगा जिस दिन वो जलजला आएगा फिर उसके पीछे और जलजला आएगा उस दिन लोगों के दिल खौफजदा होंगे और आंखें झुकी हुई काफिर कहते हैं क्या हम उल्टे पांव फिर लौटेंगे भला जब हम खोखली हड्डियां हो जाएंगे तो फिर जिंदा किए जाएंगे कहते हैं कि यह लौटना तो सरासर नुकसान का लौटना होगा तो बस वो एक डांट होगी उस वक्त वो सब मैदान हश्र में आ जमा होंगे भला तुमको मूसा की हिकायत पहुंची है जब उनके परवरदिगार ने उनको पाक मैदान यानी तुआ में पुकारा और हुक्म दिया कि फिराउन के पास जाओ कि वो सरकश हो रहा है फिर उससे कहो कि क्या तू चाहता है कि पाक हो जाए और मैं तुझे तेरे परवरदिगार का रास्ता बताऊं ताकि तुझको खौफ पैदा हो गरज उन्होंने उसको बहुत बड़ी निशानी दिखाई मगर उसने झुटलाया और न माना फिर लौट गया और तदबीरें करने लगा सो उसने लोगों को इकट्ठा किया फिर बुलंद आवाज से बोला सो कहने लगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा मालिक मैं हूं तो अल्लाह ने उसको दुनिया और आखिरत दोनों के अजाब में पकड़ लिया जो शख्स अल्लाह से डर रखता है उसके लिए इस किस्से में इबरत है भला तुम्हारा बनाना मुश्किल है या आसमान का अल्लाह ने उसको बनाया उसकी छत को ऊंचा किया फिर उसे बराबर कर दिया और उसी ने रात तारीख बनाई और दिन को धूप निकाली और उसके बाद जमीन को फैला दिया उसी ने जमीन में से उसका पानी निकाला और चारा उगाया और उस पर पहाड़ों का बोझ रख दिया ये सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारे मवेशियों के फायदे के लिए किया फिर जब वो बहुत बड़ी आफत आएगी उस दिन इंसान जो मेहनत वो करता रहा याद करेगा और दोजख देखने वाले के सामने लाकर रख दी जाएगी अब जिसने सरकशी की और दुनिया की जिंदगी को मुकदम रखा तो उसका ठिकाना जख ही है और जो अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरता और नफ्स को बेजा ख्वाहिशों से रोकता रहा तो उसका ठिकाना बहिश्त ही है ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग तुमसे कयामत के बारे में पूछते हैं कि उसकी आमद कब है सो तुम उसके जिक्र की तरफ से किस फिक्र में हो उसका मुंतहा यानी वाक़ होने का वक्त तुम्हारे परवरदिगार ही को मालूम है जो शख्स उससे डर रखता है तुम तो उसी को डर सुनाने वाले हो जब वो उसको देखेंगे तो ऐसा ख्याल करेंगे कि गोया दुनिया में सिर्फ एक शाम या एक सुबह रहे थे शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने त्योरी चढ़ाई और मुंह फेर लिया कि उनके पास एक नाबीना आया और तुमको क्या खबर शायद वो पाकिजगी हासिल करता या वो समझ जाता तो तुम्हारा समझाना उसे फायदा देता अब वो जो परवाह नहीं करता सो उसकी तरफ तो तुम तवज्जो करते हो हालांकि अगर वो ना संवरे तो तुम पर कुछ इल्जाम नहीं और वो जो तुम्हारे पास दौड़ता हुआ आया और वो अल्लाह से डरता भी है तो उससे तुम बेरुखी करते हो देखो ये कुरान नसीहत है बस जो चाहे इसे याद रखे काबिल अदब वर्कों में लिखा हुआ जो बुलंद मकाम पर रखे हुए और पाक हैं ऐसे लिखने वालों के हाथों में हैं जो बुलंद मर्तबा और नेकुकार हैं इंसान मारा जाए ये कैसा शुक्र है इसे अल्लाह ने किस चीज से बनाया नुतफे से बनाया फिर उसका अंदाजा मुकर्र किया फिर उसके लिए रास्ता आसान कर दिया फिर उसको मौत दी सो उसे कब्र में पहुंचाया फिर वो जब चाहेगा उसे उठा खड़ा करेगा कुछ शक नहीं कि अल्लाह ने उसे जो हुक्म दिया उसने उस पर अमल ना किया तो इंसान को चाहिए कि अपने खाने की तरफ नजर करे बेशक हम ही ने पानी बरसाया फिर हम ही ने जमीन को अच्छी तरह फाड़ा फिर हम ही ने उसमें अनाज उगाया और अंगूर और तरकारी और जैतून और खजूरें और घने घने बाग और मेवे और चारा ये सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारे मवेशियों के लिए बनाया तो जब कानों को फाड़ने वाली आवाज आएगी उस दिन आदमी अपने भाई से दूर भागेगा और अपनी मां और अपने बाप से और अपनी बीवी और अपने बेटों से भी हर शख्स उस रोज एक फिक्र में होगा जो उसे सबसे बेदियास कर देगी और कितने चेहरे उस रोज चमक रहे होंगे खंदाओं शादा ये नेकुकार हैं और उस रोज कितने चेहरे ऐसे होंगे जिन पर गर्द पड़ रही होगी और उन पर स्याही चढ़ रही होगी यही लोग होंगे इनकार करने वाले बदकिरदार शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है जब सूरज लपेट लिया जाएगा और जब तारे बेनूर हो जाएंगे और जब पहाड़ चलाए जाएंगे और जब ब्याहने वाली ऊंटनियां यूं ही छोड़ दी जाएंगी और जब वैशी जानवर जमा किए जाएंगे और जब समंदर आग हो जाएंगे और जब रूहें जिस्मों से मिला दी जाएंगी और जब उस बच्ची से जो जिंदा दफना दी गई हो पूछा जाएगा कि वो किस गुना के सबब कत्ल कर दी गई और जब आमाल के दफ्तर खोले जाएंगे और जब आसमान की खाल खींच ली जाएगी और जब दो की आग भड़काई जाएगी और जब बहिस्त करीब लाई जाएगी तब हर शख्स मालूम कर लेगा कि वो क्या लेकर आया है बस मैं उन सितारों की कसम खाता हूं जो पीछे हट जाती हैं और जो सैर करते और गायब हो जाती हैं और रात की कसम जब वो फैलने लगती है और सुबह की कसम जब वो नमदार होती है कि बेशक ये कुरान उस फरिश्ते आली मकाम का सुनाया हुआ पैगाम है जो साहेब कुत है मालिक अर्श के यहां ऊंचे दर्जे वाला है सरदार है साथ ही अमानतदार है